नमस्कार मित्रों आज का वीडियो ज्यूरी सिस्टम के ऊपर है अदालतों की समस्या के ऊपर कि अदालत में जो समस्या है अदालत में समस्या है भ्रष्टाचार की नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद यानी कि अधिकतर जो जज वगैरह है वो अपने रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट देते हैं और उससे सोसाइटी पे काफी बुरा असर पड़ता है क्योंकि तो जो गुंडा है वो गुंडा या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो वो क्या करेगा कि जज के एक दो रिश्तेदार को अपने पैनल पे रख देगा और सारे जजमेंट उसके फेवर में आ जाएंगे और जब अपॉइंटमेंट होती है जज की अपॉइंटमेंट होती है तो अधिकतर अपॉइंटमेंट जज के रिश्तेदार या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भाई भतीजे भांजे उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से कास्टिज्म भी बढ़ता है वो कैसे होता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा तो जो अदालतों की समस्या है उसके ऊपर ये वीडियो है कि उसका उपाय क्या है उपाय यानी कि हम गैजेट में क्या छाप सकते हैं गैजेट में कौन से कानून हमें छापने चाहिए लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट ऑर्डर कैबिनेट रेजोल्यूशन जो भी है कि जिससे कि जो हमारी अदालतों में समस्याएं हैं वो कम हो गैजेट क्या होता है ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हर राज्य सरकार भारत की जितनी भी 25-30 राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार हर पंद्रह दिन महीने में एक गैजेट छापती है और इसमें कलेक्टर सेक्रेटरी सबके लिए आदेश होते हैं उनके आदेश के ऊपर सेक्रेटरी और आदेश बनाते हैं और वो भी गैजेट में छपते हैं राजपत्र कहा जाता है यदि हमें सरकार में कोई भी परिवर्तन चाहिए अच्छा या बुरा तो वो गैजेट में लिखना पड़ता है जो भी एक्टिविस्ट या जो भी नेता कार्यकर्ता नेता या एनजीओ का लीडर जो बोलता है कि मुझे सरकार में ये परिवर्तन चाहिए ये परिवर्तन चाहिए लेकिन यदि वो ड्राफ्ट देने को तैयार नहीं है तो मैं सौ कहूँगा कि वो 99 परसेंट नहीं 100 परसेंट बकवास है 100 परसेंट परसेंट बकवास समझ लो उसको और गैजेट का ड्राफ्ट मिले उसके बाद ड्राफ्ट पढ़ के हमें तय करना है कि उससे परिवर्तन जो आएगा सोसाइटी में वो अच्छा होगा या बुरा होगा तो भारत में अदालतों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है कि निचली अदालतों में भ्रष्टाचार कम है सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा है अक्सर जो कुबुद्धिजीवी है भारत के आ, वो उल्टा बोलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में करप्शन नहीं है बस थोड़ा बहुत करप्शन है वो ये मैजिस्ट्रेट सेशंस कोर्ट में है बाकी हाई कोर्ट में कोई करप्शन नहीं है कोई भाई भतीजावाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन नहीं है भाई भतीजावाद नहीं है वो सब बकवास है सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से ज्यादा करप्ट है बस यही है कि उसका करप्शन सामने से हमें नहीं दिखता वो इस तरह की बात हुई कि ट्रैफिक कांस्टेबल है वो दस रुपया लेता है बीस रुपया लेता है वो हमें दिख जाता है चौराहे पर खड़े होकर रिश्वत लेता है और पुलिस कमिश्नर है वो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के बैठ के सौ मतलब करोड़ दो करोड़ की रिश्वत लेता है तो वो हमें दिखेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कांस्टेबल करप्ट है और कमिश्नर है वो करप्ट नहीं है आ, इस तरह से मजिस्ट्रेट का भ्रष्टाचार हमें दिख जाता है क्योंकि हम अक्सर लोअर कोर्ट में जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार है वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता तो सुप्रीम कोर्ट के मैं भ्रष्टाचार का एक केस का वर्णन करूँ जो कि सबसे ज़्यादा खराब केसों में से एक है कि स्विट्ज़रलैंड का एक बिलियोनियर था स्विट्ज़रलैंड का और उसकी ये परवर्टेड था उसको ये क्राइम क्रिमिनल मेंटालिटी थी कि 8-10 साल की लड़कियों पे बलात्कार करना तो उसने इंडिया आया और बॉम्बे में उसने 8-10 साल की तीन लड़कियों पे बलात्कार किया और पुलिस को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस एन मौके पर पहुंच गई तो जो इंस्पेक्टर था उसने बोला कि भाई इस मुद्दे पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इस आदमी को तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगा तो उसकी दूसरा क्रिमिनल माइंड ये था कि वो जो करता था उसका वो वीडियो टेप उतारता था तो उसके लैपटॉप में 300 वीडियो निकले अलग अलग देशों के भारत पाकिस्तान फिलीपींस श्रीलंका अलग अलग देशों के वीडियो निकले तो इंस्पेक्टर ने उस वीडियो की ढेर सारे सीडी डीवीडी बना के सबको भेज दी भेज दी तो स्विट्जरलैंड की फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने रिपोर्ट भेजा कि ये जो वीडियो है वो जेन्यून है यही आदमी है क्रिमिनल है लड़कियां हैं और यही लड़कियां हैं वगैरह वगैरह तो लोअर कोर्ट ने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इतने सारे सबूत थे तो इसलिए लोअर कोर्ट के जज ने सात साल की सजा की जो कि कम है ऐसे केस में पंद्रह साल की सजा हो सकती है इसलिए लोअर कोर्ट का जज भी बोल सकते हैं कि करप्ट था पर चलो कम से कम सात साल की सजा तो की उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज खरे मैं नाम के साथ बोलता हूँ उसको कंटेम्प्ट का केस करना हो तो आज और अभी करे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज खरे ने उस आदमी को बेल दे दिया कि जाओ भाई मैं आपको बेल दे देता हूँ तो जाहिर है स्विट्जरलैंड का आदमी है स्विट्जरलैंड का करोड़पति आदमी है आ, देश छोड़ के भाग गया तो जब चीफ जज खरे बेल रहा दे रहा था तब उसको पता था कि ये आदमी देश छोड़ के भाग जाएगा तो भी उसने बेल दिया तो इतने करप्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है कि सात आठ साल दस साल की लड़कियों पे बलात्कार करने वाला पकड़ा जाता है तो भी उसको दिन दहाड़े खुलेआम उसको बेल देके देश से भागने की मदद करते हैं और प्रशांत भूषण शांति भूषण जो कि भारत के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने एक एफिडेविट फाइल की एफिडेविट में उन्होंने सबूत दिए सारे सबूत के साथ एफिडेविट फाइल की कि भाई पिछले 16 चीफ जस्टिस जो आए देश में 1991 से लेकर 2010 के बीच में 16 में से 8 खोर थे और सारे सबूतों के साथ उसने एफिडेविट दी तो कापड़िया उनको धमकाते हैं चीफ जस्टिस कापड़िया की एफिडेविट वापस खींच वरना मैं तेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा करूंगा जो आठ भ्रष्ट जज है रिटायर्ड चीफ जस्टिस उनको कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं भेजा उल्टा चोट आटे कोतवाल को या तो फरियाद की शांति भूषण सबूत दे रहे हैं कि भाई आठ जज करप्ट है तो कापड़िया उनको धमका रहे हैं कि तू अपनी नोटिस वापस खींच वरना तेरे पे कंटेम्प्ट का केस तेरे को कंटेम्प्ट की सजा करूंगा तो ये और ये वोडाफोन का भी जजमेंट इसी तरह का बहुत सारा मैं जजमेंट गिना सकता हूँ आपको कि दस घंटे निकल जाएंगे गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का केस ले लीजिए कि उसमें जो अकाउंटेंट था उसकी ट्रांसफर ही नहीं की जज ने अकाउंट्स में एक नियम होता है कि जो मेन अकाउंटिंग पोजीशन पे हो या तो मैनेजरियल पोजीशन पे उसके और दो दो साल बाद ट्रांसफर करते हैं ताकि उसने घपला किया हो तो दो साल घपला करे दूसरा आदमी आए वो उसको एक्सपोज कर दे तो कम से कम घपला है वो एक्यूमुलेट होकर करोड़ों में ना पहुंचे ये घपला कुछ 30-40 करोड़ के ऊपर पहुंच गया तो जो अकाउंटेंट था वो एंड में पकड़ा गया और उसने बोला कि भाई मैं अकेला नहीं कर रहा था मैं जो सेशंस कोर्ट का प्रिंसिपल जज होता है मैं उसको भी पैसे देता था उसने नाम दिए अमाउंट दिए सब वो डायरी में लिखे हुए थे तो सीबीआई ने उसको जेल में बंद कर दिया इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और जो 25 जजों के उसने नाम दिए 20-25 जजों में से कुछ दो तीन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हाँ, तीन उसमें से आठ एक जितने हाईकोर्ट में जज है अभी और बाकी सेशंस कोर्ट में जज है तो इतने सारे जज के सामने केस हो सकता था जेल हो सकती थी तो उस आदमी ने बोला अकाउंटेंट ने कि भाई मुझे मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देना है तो तीन महीने तक किसी मजिस्ट्रेट को टाइम नहीं मिला कि वो जेल में आकर उसका स्टेटमेंट ले और सीबीआई को टाइम नहीं मिला कि वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे स्टेटमेंट देने के लिए और तीन महीने के अंदर उसने जेलर कहता है कि उसने जेल में जहर खा के आत्महत्या कर ली और मेरा मानना है कि किसी ने उसको जहर दे के मार डाला it's a case of murder वो आदमी क्यों सुसाइड करेगा उसने तो जो भी दो दस बीस करोड़ बनाए थे कपला करके कहीं छिपा रखे हो गए जेल की सजा कितनी होती उसको सात साल की सजा होती मिस अप्रोप्रिएशन की जेल के आने के बाद वो आराम से जिंदगी जीता उसको कोई आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं थी उसकी हत्या ही हुई है हत्या से किसने कराई वो तो बता नहीं सकते लेकिन हत्या से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को वरना उनका नाम आ जाता कंप्लेन में और वो आदमी सबूत भी दे रहा था कि भाई मैंने इसको इतना पैसा दिया इसको इतना पैसा दिया खैर तो यहाँ तक कि जिनके ऊपर गबन का टेंजिबल एविडेंस है ऐसे लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठे हैं हाईकोर्ट में जज बन के बैठे हैं तो यू समझो कि जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर मैजिस्ट्रेसी सर, सर से पांव तक तरफ है अब उपाय क्या है अंत में उपाय पे आते हैं तो पहला उपाय जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है right to recall supreme court chief जज पूरा जो कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जज के हाथ में होता है केंद्र सरकार कोई भी नियम बनाती है तो वो अदालत पे तभी अप्लाई होता है जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज उस पर साइन करे चीफ मिनिस्टर कोई नियम बनाता है नियम बनाते हैं या तो असेंबली कोई नियम बनाती है तो भी वो अदालत में तभी अप्लाई होगा जब वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उस पर साइन करते हैं तो ये तो नोडल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर राइट टू रिकॉल होना चाहिए अब कुबुद्धि जी भी जो है भारत के वो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि right to recall supreme court जज गैर कानूनी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मैं आपको Uh, मेरा रेफरेंस मटेरियल देता हूँ Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M मैं रिपीट करूँगा Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M ये कुछ तीन सौ साढ़े तीन सौ पेज का रेफरेंस मटेरियल है और हिंदी में है three zero one dot H dot H T M तो उसके चैप्टर चैप्टर सेवन में मैंने चैप्टर सेवन में मैंने right to recall supreme court chief जज का ड्राफ्ट दिया है ये right to recall supreme court chief जज का ड्राफ्ट डेढ़ पेज का है इस ड्राफ्ट के लिए पार्लियामेंट के कानून की जरूरत नहीं है पीएम या सीएम के हस्ताक्षर से गैजेट में छप सकता है गैजेट में छपने के बाद अमल में आ जाएगा तो जितने कुबुद्धिजीवी है जो कहते हैं कि right to recall supreme court जज है वो गैर कानूनी है गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है उनमें से बहुतों को मैंने ये ड्राफ्ट बताया तो वो ड्राफ्ट में एक भी क्लॉज ऐसा नहीं निकल पाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 400 आर्टिकल से कोलाइड करता कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 400 आर्टिकल है 396 टू बी एग्जैक्ट तो सारे जो इसके 11 क्लॉजेस है right to recall supreme court chief जज के कॉन्स्टिट्यूशन के 395 में से एक भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते तो मैंने वो उनको बोला कि भाई आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बताओ कि कौन सा क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल नंबर को वायलेट होता है या क्लैश होता है तो वो अभी तक आर्टिकल नंबर नहीं बता पाए इसलिए आप वो नई बात कहते हैं कि ये ड्राफ्ट हमें पढ़ा, पढ़ा ही नहीं है ये एकदम बकवास ड्राफ्ट है उनको पढ़ना भी नहीं है वो बात बोले कि उनको पढ़ना नहीं है तो ठीक है क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता हर एक चीज के लिए कोई बोले कि भाई मेरी बात सुनने का उनको टाइम नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगता लेकिन वो छाती ठोक के कहते हैं कि ये right to recall supreme court chief जज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोई मुझे बताए कि इसका कौन सा क्लॉज कौन से आर्टिकल को भंग करता है वो पिछले छह साल में कोई बता नहीं पाया इसी तरह से right to recall high court chief जज वो भी उसी तरह का ड्राफ्ट है कि जब प्रजा के पास हाईकोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकालने की प्रोसीजर आएगी तो यूँ समझो कि 24 घंटे के अंदर ये जमीन पे चलना सीख जाएंगे अभी जो सातवें आसमान में चलते हैं आ, उनको राइट टू रिकॉल आएगा जब प्रजा के पास तो सबको धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर जमीन पे चलने की आदत आ जाएगी शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा लेकिन बाद में आदि हो जाएंगे उसके बाद रिक्रूटमेंट जो होता है जुडिशरी में उसमें इंटरव्यू सिस्टम खत्म की जाए रिक्रूटमेंट सिर्फ रिटर्न एग्जाम से होना चाहिए जितने भी जुडिशियस लोग हैं जुडिशियस लोग यानी जो जुडिशियरी में जिनकी नौकरी है तो बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो लॉ मिनिस्ट्री में काम करते हैं वो एक बात पे खास ध्यान देते हैं कि रिटर्न एग्जाम है वो ठीक है होता है पर उसके बाद इंटरव्यू बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू के द्वारा हमें पता चलेगा कि आदमी ईमानदार है या बेईमान है या कैसा है या कैसा नहीं है तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इनमें से कुछ कुछ लोग हैं आप उनकी प्राइवेट लाइफ स्टडी कीजिए तो आ, मतलब आदमी 10 साल के बाद 20 साल के बाद तो कभी कभी कोई बोलता है कि उसके किसी एम्प्लॉय ने उसको धोखा दिया या तो बेटे ने धोखा दिया रिश्तेदार ने धोखा दिया तो भाई आप 20 साल में अपने बीवी बच्चों को और एम्प्लॉय को नहीं पहचान पाते तो आधे घंटे में इंटरव्यू में आप क्या उखाड़ लोगे तो ये बकवास है इंटरव्यू का इंटरव्यू का एक ही पर्पज होता है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों को घुसाना होता है और रिश्वत लेनी होती है सिर्फ ये दो ही पर्पज होते हैं मैं I am attacking the motive जो लोग इंटरव्यू सिस्टम को सपोर्ट करते हैं मैं सीधा उनके मोटिव पे अटैक करके बोलता हूं को इंटरव्यू एक ही रीजन से डिमांड करते हैं ताकि उनके रिश्तेदारों को घुसा सके और पैसे बना सके इंटरव्यू में तो जुडिशरी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन पे कोई रिक्रूटमेंट इंटरव्यू नहीं होना चाहिए रिक्रूटमेंट बाई रिटर्न एग्जाम उसके बाद एक साल का प्रोफेशन होता है यदि उसमें उसकी बिहेवियर अच्छी ना हो एप्टीट्यूड अच्छी ना हो एटीट्यूड अच्छी ना हो तो उसको नौकरी से निकाल दो वो बात ठीक है अब आता है ज्यूरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है अदालत की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि रिटर्न एग्जाम से जज आया या इंटरव्यू से आया अमेरिका में क्राइम कम है और जजमेंट क्यों 99 परसेंट केस के जजमेंट हफ्ते दो हफ्ते में आते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण वहां पे ज्यूरी सिस्टम ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम है वो जमीन आसमान का फर्क ला देता है सोसाइटी में जिस सोसाइटी में ज्यूरी सिस्टम है वहाँ भ्रष्टाचार कम होता है वहाँ दमन कम होता है वहाँ लोग सरकारी अधिकारी की इज्जत करते हैं पर उससे डरते नहीं है सोसाइटी में उसकी वैल्यू होती है पर ऐसा नहीं कि वो राजा की तरह घूम रहा है या लाट साहब की तरह घूम रहा है और वहाँ आम आदमी की भी रिस्पेक्ट होती है तो क्या फर्क पड़ता है ऐसी क्या चीज है ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम में कि जज सिस्टम है वो सोसाइटी को पूरा तबाह कर देता है और ज्यूरी सिस्टम है वो सोसाइटी को बचा लेता है बेसिक फर्क क्या है कि हर एक सोसाइटी एक देश है उसको छोटे एरिया में बांटते हैं राज्य उसके नीचे जिले उसके नीचे तहसील कोई भी एरिया ले लो जिसमें लाख दो लाख की बस्ती है तहसील जिला कुछ भी और हर महीने वहां पे मान लो चार सौ केस होते हैं कंप्लेंस क्रिमिनल केस या सिविल केस हर महीने वहाँ पे उस दो लाख दो तीन लाख की बस्ती में हर महीने सौ दो सौ कंप्लेन इस तरह की हो रही है अब जज सिस्टम में क्या होता है कि ये सारी सौ कंप्लेन जो है वो एक या दो या तीन न्यायाधीशों के पास जाती है यानी एक आदमी को अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई तू न्यायाधीश बीस साल के लिए पच्चीस साल के लिए चालीस साल के लिए अब उसके ट्रांसफर हो सकती है पर सारे केस उस एरिया के उसके पास जाएंगे यानी कि आने वाले दो तीन साल में जितने भी केस होंगे वो भारत के 14,000 न्यायाधीशों के पास जाएंगे 15,000 न्यायाधीशों के पास जाएंगे उसमें से कुछ हाई कोर्ट के कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोअर कोर्ट के ज्यूरी सिस्टम में क्या होता है कि उस एरिया में 300 केस है तो हर एक केस के लिए 12 अलग अलग सिटीजन को एट रैंडम वोटर लिस्ट में से निकाला जाता है मतलब कि ये वोटर लिस्ट है और निकालने का तरीका अलग अलग होता है पर इस वोटर लिस्ट में कोई पर्टिकुलर केस है तो इस वोटर लिस्ट में से उस डिस्ट्रिक्ट का जो वोटर लिस्ट है उसमें से बारह लोगों को बुलाया जाता है बारह पंद्रह लोगों को और बोला जाता है कि भाई इस केस में आपको क्या जजमेंट देना है और जो आदमी एक बार ज्यूरी में आता है वो दस साल तक रिपीट नहीं होता जज सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम में ये सबसे बड़ा फर्क है कि जज है वो 20 साल तक जज बना जज बनने के बाद वो 20-25-30 साल तक नौकरी चलेगी उसकी तो एक साल में मान लो एक जज सौ जजमेंट देता है तो तीस वर्षों के अंदर उसने करीब हजार जजमेंट दिया जबकि जूरी सिस्टम में वो 30000 जजमेंट कौन देगा 30000 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी करीब करीब तीन लाख साठ हजार सिटीजन तो जूरी सिस्टम ही एक नहीं है ऐसा नहीं है कि एक जज को हमने 12 जूरी से रिप्लेस किया हमने जूरी सिस्टम में एक जज को लाख दो लाख नागरिकों से रिप्लेस किया और इससे क्या फर्क पड़ता है तो जो जज लॉयर का नेक्सस है और जो नेपोटिज्म जिससे शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है या तो सबसे खराब चीज जज सिस्टम है वो वो है जज लॉयर का नेक्सस कि एक आदमी एक जगह पे दो तीन चार साल से जज है उसके बाद उसकी ट्रांसफर होगी तो आसपास ही किसी उसी राज्य के कोर्ट में होगी जो मैजिस्ट्रेट होता है उसकी ट्रांसफर आउट ऑफ स्टेट नहीं होगी यूपी का मैजिस्ट्रेट हो तो उसकी ट्रांसफर यूपी में ही होगी गुजरात का मैजिस्ट्रेट हो तो उसकी ट्रांसफर गुजरात में ही होगी इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज जो होते हैं उनकी भी ट्रांसफर स्टेट uh, के अंदर ही होती है आ, uh, कोई मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसकी ट्रांसफर मध्य प्रदेश में होगी तो इन लोगों की एक आदमी जज बनता है तो पांच छह महीने में ही उसकी सांठगांठ हो जाती है जो गिने चुने कुछ नामी वकील होते हैं या तो वो क्या करता है वो अपने किसी रिश्तेदार को उस कोर्ट में बोलेगा कि तू यहाँ आके प्रैक्टिस कर और ये क्रॉस नेपोटिज्म होता है यानी कागज पे साबित करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है नार्को टेस्ट से साबित हो सकता है ऐसा नहीं है कि सबूत नहीं मिलेगा नार्को टेस्ट यदि लिया जाए तो क्रॉस नेपोटिज्म भी प्रूव हो जाएगा पर क्रॉस नेपोटिज्म कैसे करते हैं कि मान लो मैं जज हूँ और मेरा एक दोस्त भी जज है तो मैं अपने भांजे को कभी अपनी कोर्ट में घुसने भी नहीं दूंगा और मेरा जो दोस्त है वो अपने भतीजे को कभी उसकी कोर्ट में घुसने नहीं देगा लेकिन मेरे दोस्त मेरा दोस्त जो जज है उसका भांजा मेरे कोर्ट में आके करोड़ दो करोड़ कमा लेगा और मेरा भतीजा उसके कोर्ट में जाके करोड़ दो करोड़ कमा लेगा तो इस तरह से चार पांच जज होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं ग्रुप प्रैक्टिस बोल सकते हैं उसको ग्रुप कार्टेल कार्टेल बना लेते हैं और वो आपस में एक दूसरे रिश्तेदारों को करोड़ों की कमाई कर लेंगे और हर महीने दो महीने बाद वो मीटिंग करके देख लेंगे सेटलमेंट कर लेंगे कि भाई मैंने तेरे भतीजे को पांच करोड़ कमाया तूने मेरे भांजे को सिर्फ तीन करोड़ कमाया चलो दो मैं अगले महीने दो करोड़ बाकी तो इस तरह से वो लोग अंदर अंदर सेटलमेंट कर लेंगे पर एक कार्टर प्रैक्टिस वहां पे जम जाती है ये पूरी दुनिया में जहां जज सिस्टम है अकेला हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जहां जज सिस्टम है वहां पे कार्टल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि जज उसके लंगोटिया यार हो या तो खास दोस्त हो या तो उसके रिश्तेदार हो उसके थ्रू वो उसको फेवरेबल जजमेंट देना शुरू करेगा तो रिलेशन कैसे होता है कि यदि मैं जज हूं तो मैं कभी आसिल को नहीं बोलूंगा कि इस वकील के पास जाया मेरे भतीजे के पास जाया मेरे भांजे के पास जाते तो, तो मैं हो सकता है पकड़ा जाऊं उसने कहीं टेप रिकॉर्ड छुपा रखा है लेकिन उस आसिल का जो वकील है उसको पता है यदि ये केस जीतना है तो मुझे इसके भतीजे के पास जाना पड़ेगा या इसके भांजे के पास जाना पड़ेगा वो एक public knowledge semi public knowledge होता है यानी कोर्ट में जो लोग घूमते हैं उनको पता है कि इस जज के से काम निकलवाना हो तो इस वकील से मिलना पड़ेगा उस वकील से मिल लो और वो वकील है वो आप चेक में फी देना चाहते हो तो चेक में ले लेगा कैश में देना चाहते हो तो कैश में ले लेगा और उस वकील ने फी ले लिया उसके बाद उस वकील को जज को प्रमोशन दिलाना है तो प्रमोशन दिलाना है पैसे दिलाना है तो पैसे दिलाना है लेकिन वो जो करप्शन है वो किसी भी हालत में बाहर नहीं आएगा जब तक कि नार्को टेस्ट न लिया जाए तो पर फाइनली एंड रिजल्ट क्या हुआ कि majority of the judgments are paid judgment कि उसने अपने रिश्तेदार के थ्रू डीलिंग कर ली डायरेक्टली वो एक्सपोज नहीं होगा वो कभी हैंड टू हैंड पैसा लेगा ही नहीं बात भी नहीं करेगा पैसे की हैंड टू हैंड कभी नहीं लेगा बात नहीं करेगा इंडिकेशन भी नहीं देगा पर जब पता एक बार उसके रिश्तेदार वकील को पैसा दे दिया उसने हफ्ते दो हफ्ते में वो फेवरेबल जजमेंट दे देगा जूरी सिस्टम में क्यों इम्पॉसिबल है क्योंकि एक केस शुरू हुआ उसके लिए मान लो दस लोगों की जूरी आई बारह लोगों की जूरी आई एक जूरी को एक ही केस दिया जाता है यानी सुबह आठ से सुबह दस से पांच तक एक ही केस चलेगा तो 99 परसेंट केस का जजमेंट एक हफ्ते के अंदर आ जाता है और वकील है उसने मान लो सांठगांठ बनाने की कोशिश की तो सांठगांठ बनाना मुश्किल क्या है तो जूरी वाला कहेगा कि भाई पहले पैसा दे तब मैं काम करूंगा और वकील सोचेगा कि भाई पैसा दे दिया कोई गारंटी है कि ये काम करेगा और काम नहीं किया तो दोबारा तो ये जूरी में आने नहीं वाला तो और वकील हर हफ्ते दस दस लोगों से नेक्सेस कैसे बनाएगा जज सिस्टम है तो क्या कि एक बार उसका जज के साथ नेक्सस बन गया तो वो नेक्सस उसको आ, दो साल तक काम आएगा तीन साल तक काम आएगा तीस साल तक काम आएगा यदि वो जज है वो उसी स्टेट में उसकी ट्रांसफर हो रही है तो वकील भी मान लो एक जज की अहमदाबाद से सूरत में ट्रांसफर हुई तो वकील है उसका सूरत में कोई रिलेटिव होगा या दोस्त होगा उससे जान पहचान करा देगा उसके साथ तो ये ग्रुप प्रैक्टिस बोलो या कार्टर प्रैक्टिस बोलो वो बरसों तक चलती रहेगी जबकि जूरी सिस्टम में मैं जूरी में हूं एक हफ्ते बाद निकल गया जूरी से आ, एक केस खत्म होने के बाद अब 10 साल तक मैं जूरी आऊंगा आऊंगा नहीं तो वकील ने यदि मेरे साथ साठ कार्ड बनाई तो उसको मिलेगा क्या 10 साल तक तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उसे हर हफ्ते 10-10, 20-20 लोगों से साठ कार्ड बनानी पड़ेगी जो कि नामुमकिन है दूसरा जज सिस्टम में दूषण क्या होता है कि मान लो मैं गुंडा हूं लतीफ जैसा या दाऊद जैसा कोई गुंडा हूं अभी तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया और इंटरनेशनल लेवल का हो गया पर एक जमाने में सारे गुंडे लोकल लेवल पे होते हैं दो तीन चार पांच एरिया तक ही उनकी पहुंच होती है तो मान लो उस एक गुंडा है उसके तीस चालीस लोगों का गैंग है और वो पांच एरिया में दस एरिया में मारपिटाई करते हैं हफ्ता वसूली करते हैं गैर कानूनी काम करते हैं उनके सामने हर महीने मान लो हर साल सौ जितनी कंप्लेन होती है कोर्ट के अंदर तो जज सिस्टम में मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा मैं यदि क्रिमिनल गैंग लीडर हूं तो कि वो जो सौ केस है वो सारे के सारे केस है वो तीन या चार या पांच मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो वो जो मजिस्ट्रेट के के कनेक्टेड जो वकील है या तो उनके रिश्तेदार वकील है मैं उनको पैनल पे रख दूंगा और उनको बोलूंगा भाई मुझे 100 परसेंट एक्विटल रेट मिलना चाहिए और यदि कोई मजिस्ट्रेट नहीं दे रहा मुझे फेवरेबली नहीं कर रहा तो मैं हाईकोर्ट के जज को रिश्वत दे तो उसकी ट्रांसफर करवा लूंगा तो इस तरह से वो पांच छह एरिया में मेरा राज हो जाएगा कि मेरे जितने भी आर्मी जाएंगे मेरे गैंग में मेंबर के सामने केस होगा जज क्या करेगा डेट पे डेट पे डेट डाल के जो भी विक्टिम है या तो जो विटनेस है उसको थका देगा एक पॉइंट के बाद विटनेस और विक्टिम आना ही बंद कर देंगे तो वो मेरे गैंग मेंबर को बोल देगा कि ये इसके सामने कोई सबूत नहीं है कोई गवाह नहीं है मैं इसको बरी कर देता हूँ अब जूरी सिस्टम में क्या हुआ कि मान लो मैंने हर साल सौ केस हो रहे हैं तो वो सारे के सारे सौ केस है वो बारह सौ अलग अलग आदमी के पास जाएंगे और वो पूरे जिले के वोटर लिस्ट में से आ रहे हैं यानी हर साल मुझे 600-800 लोगों को ब्राइब करना पड़ेगा कहा जज सिस्टम जहां हर साल मुझे सिर्फ पांच आदमी को ब्राइब करना पड़ता है और कहा जूरी सिस्टम जहां हर साल मुझे 600 आदमी को ब्राइब करना पड़ता है अब मान लो मैंने 600 में से 300 को ब्राइब कर दिया 400 को ब्राइब कर दिया लेकिन 50 आदमियों के सामने केस में उसमें से पांच में भी यदि अनफेवरेबल जजमेंट आ गया तो पांच लोग जेल में चले जाएंगे पांच आदमियों को जेल होगी तो मेरे 20 आदमी गैंग छोड़ के चले जाएंगे कि भाई इसमें तो घाटा ही घाटा है ये क्या कि पांच साल के लिए जेल तीन साल के लिए जेल सात साल के लिए जेल और दूसरा जूरी सिस्टम में एक और प्रोविजन भी होता है कि एक आदमी के सामने बहुत सारे केस आ रहे हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं उसके सामने संगीन गुना है कि मारपीट का गुना था तो, तो बारह लोगों की जूरी उसके बाद छुरी चलाने का इल्जाम था फेटल इंजरी तो 20 लोगों की चोरी मर्डर का केस है तो 50 लोगों की चोरी वो बढ़ा सकते हैं मैंने प्रोविजन रखा यूएस में नहीं है मैंने रखा है कि जितने क्राइम्स उस आदमी के सामने ज्यादा और जितने क्राइम्स की मैग्नीट्यूड सीरियस उतने उसके सामने चोरी की संख्या बढ़ती जाएगी यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसे रिश्वत देनी पड़ेगी एंड में वो आदमी टूट जाएगा और उसे जेल की सजा हो जाएगी इस तरह से गैंग खत्म हो जाएगा तो आप देखिए कि जितने भी कंट्री जहां पे जूरी सिस्टम है वहां कहीं भी लोकल लेवल पे हफ्ता वसूली का क्राइम नहीं है और जितने भी एरिया जहां जहां जज सिस्टम है वहां पे अधिकतर देशों में ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में मैक्सिको या जितने भी देश है अधिकतर देशों में हफ्ता वसूली का क्राइम है कि गुंडे वो खुलेआम दुकानदारों से हफ्ता वसूल करते हैं और खुलेआम वो गैर कानूनी काम करते हैं और बस वो जज के दो चार रिश्तेदारों को अपने पैनल पर रख लेंगे और उनके सामने जितने भी केस आएंगे उनके गुंडे वो ऊपर हो जाते हैं फिर जूरी सिस्टम का तो जूरी सिस्टम का जो मेजर बेनिफिट आपको बताया कि जज सिस्टम में एक आदमी 30 साल तक जज है तो 2000 से लेके हजार बड़े केस या तो दस हजार छोटे केस एक ही आदमी के पास जाएंगे जबकि ज्यूरी सिस्टम में ये केस है वो पचास हजार एक लाख दो लाख नागरिकों के बीच बढ़ जाएंगे यानी किसी को कंटिन्यूस एक्विटल चाहिए मान लो मेरे रोज पचास क्राइम कर रहा हूं मैं या मेरे आदमी रोज पचास सौ हर महीने पचास सौ क्राइम कर रहे हैं तो जज सिस्टम में मुझे मेरे सामने 600 केस है मेरे आदमियों के सामने 600 केस है जज सिस्टम में मुझे सिर्फ चार पांच मजिस्ट्रेट को एक दो सेशन जज को एक आध दो हाईकोर्ट के जज को कवर करना है ज्यूरी सिस्टम में मुझे हर साल पांच दस हजार लोगों को कवर करना पड़ेगा जो कि इम्पॉसिबल टास्क है उसके बाद जज सिस्टम का एक और दुर्गुण यह है कि वकील है वो जज पे भरोसा कर सकता है जब उसको ये भ्रष्टाचार करना और रिश्वत देनी हो तो भरोसा कैसे कर सकता है जो भरोसा ज्यूरी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है कि मान लो आप वकील हो और मैं जज हूं तो और आपने बोला कि भाई लाख दो लाख दोगे आप मुझे एक्विटल कर दो किसी गुंडे को या किसी को भी तो अब हमेशा सवाल आता है कि पैसा पहले दूं या काम पहले करूं क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि मान लो पैसा नहीं मिला और आपका काम कर दिया और मैं आपको जाके केस फाइल करूं तो जज सिस्टम में ये क्यों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि मैं जो जो मैं रिस्क ले सकता हूं कि चलो मैं इसके आदमी को बरी कर देता हूं पैसा देगा क्यों नहीं देगा इसके दस केस और मेरे पास पड़े यदि इस केस में पैसा नहीं दिया तो मैं उसके दस केस बिगाड़ दूंगा तो मैं फ्री में का पहला काम मैं मैं बोलूं फ्री में नहीं करूंगा मैं कहूंगा कि चलो काम पहले करूंगा बाद में पैसा दूंगा काम हो गया उसके बाद वो मुझे पैसा क्यों देगा क्यों मुझको धोखा नहीं देगा क्योंकि वकील भी सोचेगा कि भाई ग्यारह केस और पड़े मेरे इसके केस में इसको यदि पैसा नहीं दिया तो 11 केस में तो केस बिगाड़ जाएगा तो ऊपर से यदि मैं उसको टाइम सर जितना कमिट किया उतना पैसा दे देता हूँ तो मुझे 11 केस में भी निकलने में आसानी होगी यानी चेन ऑफ ट्रांजैक्शन जहां पे चेन ऑफ ट्रांजैक्शन है वहां ट्रस्ट मेंटेन हो जाता है बिल्ड भी हो जाता है मेंटेन भी हो जाता है अब मान लो वकील ऐसा होता है चलो एक लाख दे दो जज साहब को पहले और काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यदि मैंने एक लाख रुपया लिया मैं जज हूं और मैंने एक लाख रुपया दिया और काम नहीं किया तो बाकी लोग बाकी वकील मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो वो दूसरे दिन मेरे को कोई पैसा देने नहीं आएगा तो इस तरह से यदि आदमी पैसे पहले ले लेता है तो काम करेगा और यदि पैसा बाद में लेने की बात करता है तो भी बाद में उसको पैसा मिल जाएगा जबकि ज्यूरी सिस्टम में ये एग्रीमेंट भी प्रॉब्लम में आ जाता है कि मैं यदि ज्यूरी में हूं और मैंने देखा साले ये तो बहुत कमीना आदमी है आज इसने इसको मारा है कल मुझे भी मार सकता है मेरे रिश्तेदार को भी मार सकता है इसको तो जेल में बंद करना है और वकील मुझे आके बोलता है कि भाई लाख रुपया ले लो छोड़ दूंगा तो मैं लाख रुपया ले लूंगा और फिर भी उसको जेल कर दूंगा एक बार पैसा हाथ में आने के बाद तो पैसा तो जाने नहीं वाला ना और वकील भी घबराएगा पैसा देने से पहले कि भाई इसको मैंने लाख रुपया दे दिया और इसने अपना डील नहीं रखा तो तो मेरा तो लाख रुपया पानी में जाएगा ऊपर से वो क्रिमिनल है वो भी मुझे पैसा नहीं देने वाला और वकील मान लो मुझे ऐसा कहता है कि भाई पहले तुम इस आदमी को बरी करो और उसके बाद मैं तुम्हें लाख रुपया दूंगा तो मैं वकील पे भरोसा नहीं करने वाला क्योंकि मैं एक बार ज्यूरी में निकल गया दस साल तक ज्यूरी में आने नहीं वाला तो वकील को मेरी जरूरत नहीं है यानी ज्यूरी सिस्टम में सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है एक फैसला होता है उसके बाद वो वापस सोसाइटी में चले गए उनके पास कोई पोजिशन नहीं है कोई पावर नहीं है कोई नाम नहीं है तो वो और वकील भी उसको ज्यूरी मेंबर को पहली बार मिला और केस खत्म होने के बाद दोबारा कभी मिलने नहीं वाला इसलिए ट्रस्ट बिल्डअप करना जूरी सिस्टम में इम्पॉसिबल है तो और जज सिस्टम में क्रॉस नेपोटिज्म चल सकता है जूरी सिस्टम में क्रॉस नेपोटिज्म नहीं चलता जज सिस्टम में कैसे क्रॉस नेपोटिज्म चल सकता है कि मैं जज हूं मेरा एक दोस्त जज है मैं उसको भतीजे को बोलूंगा कि तू मेरी कोर्ट में आकर प्रैक्टिस कर करोड़ दो करोड़ कमा दूंगा वो मेरे भांजे भतीजे को करोड़ दो करोड़ कमा देगा अब ज्यूरी में ये कैसे पॉसिबल नहीं है कि मैं मान लो मुझे ज्यूरी का समन्स आया मैं जूरी के लिए कह एक हफ्ते में तो खत्म हो जाएगा ट्रायल अब दूसरी जगह पे कोई और जूरी है वहां मेरा रिश्तेदार है या नहीं कहां पता लगने वाला है मुझे तो इस तरह से क्रॉस नेपोटिज्म कि भाई तू मेरे वकील को फायदा दिला मैं तेरे वकील को फायदा दूंगा वो जूरी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है इसी तरह से जो नेक्सस है वो कमजोर कैसे हो जाता है कि मैं कैरियर क्रिमिनल हूं तो मैंने पांच जजों से मेरा अक्सर पाला पड़ता है उसके दो तीन दो तीन रिश्तेदारों को दस वकीलों को मैंने अपने पैनल पर रख लिया अब जूरी में तो पूरी जो दस लाख की वोटर लिस्ट है दो लाख दस लाख की वोटर लिस्ट है उसमें रैंडम सिलेक्शन होने वाला है तो मेरे वकीलों के मेरे पैनल में सौ वकील भी हो हर एक वकील के दस रिश्तेदार हो तो एक हजार रिश्तेदार तो क्या गारंटी है कि वो एक हजार में से एक आदमी जूरी में आएगा और जूरी में बारह लोग होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो आदमी जूरी में आएंगे जो कि मेरे सौ वकीलों में से किसी न किसी के रिश्तेदार हैं तो आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स लगाएं तो जूरी में मेरे वकील के रिश्तेदार होने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थाउजेंड दो रिश्तेदार होने की प्रोबेबिलिटी हो गई वन बाई मिलियन या अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ वन बाई मिलियन इस तरह से probability practically one by billion हो जाती है यानी ज्यूरी सिस्टम में जो नेपोटिज्म है नेपोटिज्म का फैक्टर खत्म हो जाता है फिर ज्यूरी सिस्टम से जजमेंट कैसे जल्दी आते हैं कि एक ज्यूरी को एक ही केस दिया यानी 10 से 5 तक एक ही केस चलने वाला है वकील जितनी भी उल्टी सुल्टी दलीलें दे थक जाएगा सारी दलीलें उसकी खत्म हो जाएगी ज्यूरी बोलेगी भाई बोल कितनी जितनी दलील करनी है तो करते जा और उसमें जब दलील खत्म हो जाएगी तो फिर एक आध दिन में जजमेंट आ जाएगा तो जूरी सिस्टम का जो ड्राफ्ट मैंने दिया है ये जूरी सिस्टम का ड्राफ्ट है ये ड्राफ्ट हम मुख्यमंत्री को हमें कहना चाहिए कि वो गैजेट में छापे और दूसरे नागरिकों से कहना चाहिए कि भाई आप भी मुख्यमंत्री को विनती करो कि वो जूरी सिस्टम का ड्राफ्ट गैजेट में छापे और उसके बाद हमें उधम सिंह से विनती करनी चाहिए कि वो भी प्रधानमंत्री को समझाए कि वो जूरी सिस्टम के ड्राफ्ट गैजेट में छापे और उधम सिंह जो मेरा ऊपर वीडियो है पूरा जो राइट टू रिकॉल का जो मेरा एजेंडा है उसमें सबसे अहम भूमिका उधम सिंह की है महात्मा उधम सिंह की और अंत में महात्मा उधम सिंह के कहने पे ही ये ड्राफ्ट ज्यूरी में आएंगे सॉरी गैजेट में आएंगे अब ज्यूरी सिस्टम का कुछ मैं संक्षिप्त इतिहास दूँ आपको कि कैसे ज्यूरी प्रथा अस्तित्व में आई भारत में ज्यूरी सिस्टम थी क्यों निकाली गई उसके बारे में कुछ बताता हूं जूरी सिस्टम सबसे पहले आई ग्रीस में थ्री सिक्स हंड्रेड बीसी के आसपास किस तरह से कि ग्रीस में नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल था यानी कि उस राज्य के उस समय छोटे छोटे राज्य थे अधिकतर कि नागरिक एक चौराहे पे इकट्ठा होके मेजोरिटी वोटिंग के द्वारा किंग को नौकरी से निकाल सकते हैं जैसे कि एथेंस में उस समय 60,000 नागरिक थे तो 60,000 नागरिकों के पास ये सत्ता थी कि वो किंग को नौकरी से निकाल सके उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिटीजन के पास पावर था कि किंग को 10 दिन के अंदर नौकरी से निकाल सके इसलिए किसी किंग ने हिम्मत भी नहीं हुई एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर ने भले ग्रीस से लेके यमुना तक का सारा एरिया जीत लिया हो पर मैसेडोनिया के नागरिकों के पास ये पावर था कि वो एलेक्जेंडर को नौकरी से निकाल सके तो अब राइट टू रिकॉल के बाद नागरिकों के पास दूसरी समस्या है कि भाई राजा मान लो ठीक है लेकिन राजा का कोई कर्मचारी है तहसीलदार हो कलेक्टर लेवल का हो या कोई सेनापति वगैरह उस टाइप का हो तो हर एक क्राइम के लिए तो साठ हजार नागरिकों को बुलाया नहीं जा सकता अब कंप्लेंट डिसाइड करने के लिए इसलिए उन्होंने ये प्रोसीजर डाली कि एट रैंडम यानी जो सिटीजन का लिस्ट है उसमें से एट रैंडम 50 लोगों को बुलाया जाए और वो 50 लोग तय करेंगे कि भाई ये सरकारी अधिकारी जो है उसके जिसके सामने कंप्लेन है उसको नौकरी में रखा जाए नौकरी से निकाला जाए क्या सजा की जाए यहाँ से ज्यूरी सिस्टम की शुरुआत होती है फिफ्टी आदमी है वो एट रैंडम चूज होंगे यानी मेरे आदमी तुम्हारे आदमी इसके आदमी ऐसा नहीं फिर धीरे बात आगे भी बढ़ी कि भाई राजा को यदि सजा करनी होगी तो राजा सजा तय नहीं करेगा उसे पचास नागरिकों को बुलाना पड़ेगा वो सजा तय करेंगे राजा सिर्फ राजा या राजा का अधिकारी सिर्फ प्रोसिक्यूट करेगा यानी कि भाई इस आदमी को इतनी सजा होनी चाहिए एथेंस में एक और भी नियम बाद में बनाया गया कि भाई मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है अमीर आदमी है या तो सेनापति है बहुत मजबूत आदमी है और पचास नागरिक को तो डरा धमका के बिठा दिया तो तो ज्यूरी सिस्टम में ये कि यदि किसी आदमी ने बड़ा गुना किया और बड़ा आदमी है तो सौ लोगों की ज्यूरी दो सौ बहुत बड़ा आदमी है तो दो सौ लोगों की ज्यूरी और यदि सेनापति यानी कि राजा के नीचे का डायरेक्ट किंग्स ऑफिसर उस लेवल का आदमी है या तो कोई बहुत अमीर आदमी है और उसको सजा करनी है तो पांच आदमी की ज्यूरी आएगी और पांच की ज्यूरी तय करेगी कि उसे सजा करनी या नहीं जैसे कि सोक्रेटिस को जो फांसी की सजा हुई थी उसमें 500 लोगों की ज्यूरी ने वो सजा दी थी 500 लोगों में से कुछ 360 लोगों ने कहा था कि सोक्रेटिस को फांसी की सजा होनी चाहिए और 140 लोगों ने बोला था कि नहीं उसे आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए वैसे मुकदमा शुरू होने से पहले एथेंस के नागरिकों ने सोक्रेटिस को कहा था कि यदि तुम एथेंस छोड़ के चले जाते हो तो कोई मुकदमा नहीं होगा कोई सजा नहीं होगी दोबारा एथेंस में मत आता और सजा सुनाने के बाद भी उसने ये कहा था कि आप यदि एथेंस छोड़ के चले जाते हो तो कोई सजा नहीं होगी सोक्रेटिस को सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि सोक्रेटिस के जो विद्यार्थी थे उन्होंने सोक्रेटिस के विद्यार्थियों ने केटो उसका नाम था सीएटीओ सिक्योरिटीज का एक विद्यार्थी होता क्रेटास या क्रेटो उसने एथेंस के एक दूसरा उसका जो राज्य था स्पार्टा वहां के राजा से मिलके एथेंस पे कब्जा जमा लिया था और कुछ 400-500 नागरिकों को उसने मार डाला था और उसने वहां पे ओलीगार की स्थापना करने की कोशिश की थी डेमोक्रेसी खत्म करने के तो क्राइम सोक्रेटिस के विद्यार्थी ने किया उसमें सोक्रेटिस की क्या गलती तो एथेंस में यह प्रणाली थी कि यदि मेरा भाई कुछ गलत काम करता है और मैं उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता तो वो मेरे खिलाफ भी जुर्म है यानी कि जुर्म को अनदेखा करना जुर्म है ये एथेंस की प्रणाली का थी उस समय कोई रिटर्न लॉज इस तरह के नहीं होते थे प्रणाली का ही कानून होता था और एथेंस में इस तरह से था कि यदि बेटा क्राइम करता है और बाप उसे अनदेखा करता है तो वो क्राइम है फिर उल्टा नहीं था यदि बाप क्राइम करता है तो बेटे को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाप वो उसके लिए सम्मान नहीं है इसी तरह से मेरा पार्टनर बिजनेस का पार्टनर हो वो कोई क्राइम करता है और मैं अनदेखा करता हूं उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता तो वो क्राइम हुआ और इसमें अलग अलग लेवल से कि यदि छोटा आदमी है वो क्रिटिसाइज नहीं करता तो क्राइम नहीं बनता लेकिन यदि बड़ा आदमी है और वो क्राइम को अनदेखा करता है तो वो क्राइम बनता है और इसी तरह से एथेंस के अंदर गुरु शिष्य का जो रिलेशन है वो पिता पुत्र के रिलेशन जैसा माना जाता था आजीवन माना जाता था कि जब तक उस गुरु अपने शिष्य को डिसोन नहीं करता पब्लिकली तब तक वो उसका शिष्य माना जाता था और इसमें यह था कि यदि किसी कोई गुरु कोई गलत काम करता है तो शिष्य का यह फर्ज नहीं बनता कि उसे क्रिटिसाइज कर लेकिन यदि शिष्य गलत काम करता है और गुरु उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता पब्लिकली उसे डिसोन नहीं करता तो वो गुरु का क्राइम माना जाता था तो क्रिटास ने या क्रिटास ने जब एथेंस के की डेमोक्रेसी खत्म कर दी वहां पे ओलिगार्की की स्थापना की और 400-500 एथेंस के लोगों को मार डाला और वो भी स्पार्टा जो कि उसका प्रतिद्वंदी देश था उससे मिलकर तो सोक्रेटिस ने उसके उसके जानबूझकर कोई क्रिटिसाइज नहीं की लोगों ने बोला कि भाई आप इसको क्रिटिसाइज नहीं करते आप इसको सपोर्ट करते हो तो वो उसने मौन धारण किया सोक्रेटिस की यह खूबी थी कि आम आदमी भी वो जीप भर के गालियां देता था वो हमेशा डेमोक्रेसी का उसने विरोध किया इसीलिए अमीर आदमियों ने उसको फादर ऑफ फिलोसफी का सर्टिफिकेट दिया है आ, और जब अमीर आदमी कुछ गलत काम करता था तो वो हमेशा मौन रहते थे तो ये बात पे कि भाई आपने आपके विद्यार्थियों ने इतने बड़े पैमाने पे राजद्रोह क्रिया और हत्याएं की तो क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया वो एक था फिर दूसरा एथेंस में उस समय ये मान्यता थी कि जो आदमी सेना में आ, आ, नहीं जुड़ेगा जो आदमी देश की रक्षा नहीं करेगा उसे नर्क मिलेगा वो मान्यता क्यों थी क्योंकि उस समय पूरी दुनिया के देश आज भी और उस समय भी देश है वो सेना के ऊपर टिका होता है अब युद्ध हुआ और उस समय नागरिक बोलता है चलो मैं तो भाग जाता हूं क्या जरूरत है मुझे सेना में जाने की अपनी जान बचाओ तो वो भाग जाएगा एक भागेगा दूसरा भागेगा सब भागेंगे तो लड़ेगा कौन दुश्मन है वो पूरे देश पे कब्जा कर लेगा इसलिए सेना को टिकाने के लिए उन्होंने ये विश्वास या अंधविश्वास का सर्जन किया था कि जो आदमी सेना में नहीं जुड़ता और देश की रक्षा नहीं करता उसे नर्क मिलेगा तो सोक्रेटिस ने इसका पब्लिकली खंडन शुरू किया कि इस ये सब बकवास है कोई जरूरत नहीं है सेना में जाने की यानी वो युवकों को उकसाता था कि तुम्हें सेना में जाने की जरूरत नहीं है तो एथेंस के लोगों ने ये नहीं बोला कि इसलिए हम आपको सजा देंगे उन्होंने बोला कि आप एथेंस छोड़ के चले जाओ तो सोक्रेटिस ने बोला नहीं मैं एथेंस छोड़ के नहीं जाऊंगा वैसे भी सोक्रेटिस की उम्र कुछ अस्सी पचासी साल हो चुकी थी वो दो तीन साल में समझो कि उसके आ, आ, कमर तक या वो छाती तक कवर में ही था तो सोक्रेटिस को था कि चलो यदि मुझे फांसी हो जाती है तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी फेम मिलेगा और वैसे भी दो तीन साल में तो मरना ही है कोई 25 साल का उम्र का 30 साल की उम्र का आदमी कोई शहादत लेता है तो बोल सकते हैं कि उसकी शहादत की कीमत है 80 पचासी साल की उम्र को यदि शहीद होने का खाब आ गया तो वो तो पब्लिसिटी स्टंट होता है तो इसलिए सोक्रेटिस ने बोला कि नहीं मैं एथेंस छोड़ के नहीं जाऊंगा इसलिए मुकदमा हुआ और मुकदमा में 500 में से 360 लोगों ने बोला कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए चालीस ने बोला आजीवन कारावास होना चाहिए और उस पर यह जुर्म था कि वो सेना को कमजोर कर रहा है और उसने विद्यार्थी उसने अपने विद्यार्थी को डिसोन नहीं किया और अपने विद्यार्थी को क्रिटिसाइज नहीं किया वो एथेंस के उस समय के कानूनों की बात करता हूँ एथेंस का उस समय का कानून था कि कोई भी आदमी यदि जुर्म करता है तो आप उसे नजरअंदाज नहीं करते आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसे क्रिटिसाइज करें उसके बाद जूरी सिस्टम यूरोप में चली रोम में खत्म हो गई और 950 एडी में दोबारा ब्रिटेन में आई और उसी के बाद ब्रिटेन का ग्राफ है वो अब शुरू होता है ब्रिटेन में जूरी सिस्टम आई कॉरोनर्स जूरी के द्वारा कॉरोनर्स जूरी यानी क्या कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को इजा पहुंचाता है या उसकी हत्या करता है भले हत्या करता है तो वहां पे राजा का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा कॉरोनर यानी राजा का अधिकारी और राजा का अधिकारी खुद फैसला नहीं देगा वहां के जो नागरिकों का लिस्ट है उसमें से वो दस नागरिकों को एट रैंडम सिलेक्ट करके बुलाएगा और वो दस में से यदि छह नागरिक बोलते हैं कि भाई इस पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाला जाए तो उसकी नौकरी वहीं के वहीं खत्म तो इस तरह से वहां पे दमन कम हुआ दमन कैसे कि पहले क्या था कि पुलिस का अधिकारी क्या सोचता था कि भाई मेरे के सामने कोई कंप्लेन आएगी तो कंप्लेन कौन जज करेगा कमिश्नर जज करेगा शेरिफ यानी या कलेक्टर जज करेगा तो वो तो उसको तो हम हफ्ता देते ही हैं हर महीने हर साल में उसके तो बहुत सारे उल्टे सीधे गलत सही काम कर देते हैं वो क्यों हमें नौकरी से निकालेगा पर जब पुलिस कर्मियों ने देखा कि अब तो नौकरी से निकालने का पावर पब्लिक के हाथ में आ गया तो उन्होंने देखा कि अब हम पब्लिक की बिना फिजूल की पिटाई करेंगे या तो बिना फिजूल का हमसे पैसा ऐठेंगे तो वो हमें नौकरी से निकाल दे सकते और इससे इसलिए उनका पब्लिक के प्रति रवैया शरीफों वाला हो गया और नाइन 950 एडी में कॉर्नर्स ड्यूटी सिस्टम आया और 950 एडी से ब्रिटेन का ग्राफ ऊपर होना शुरू होता है कैसे उद्योगों उद्योगों का विकास और हर तरह से शुरू होता है कि कहीं भी कोई छोटा उद्योग का कोई कारीगर कुछ इनोवेशन लाता है या तो मेहनत करता है मेहनत से या तो इनोवेशन से जब उसकी आमदनी डबल हो जाती है तीन गुनी हो जाती है तो वहाँ के जो सरकार के अधिकारी होते हैं जज हो या तो सामंत हो या पादरी हो उस समय जुडिशरी ब्रिटेन में उस समय जुडिशरी सामंत और पादरियों के हाथ में थी तो उनको जलन होने लगती है कि साला ये आदमी अमीर हो गया तो वो क्या करेंगे उसके सामने सही गलत केस ठोक के उससे पैसे ऐठना शुरू करेंगे और वो सफल हो जाएंगे लेकिन ज्यूरी सिस्टम आने के बाद वो पावर कम हो गया कैसे कि 1100 एडी में एक और कानून लाया गया जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं मैग्ना कार्टा पे आप गूगल करना मैग्ना कार्टा में ट्रायल बाय पियर्स कहा गया है ट्रायल बाय पियर्स या तो ट्रायल बाय ज्यूरी दो तीन अलग अलग शब्द है उसमें ही क्या था कि जो राजा का अधिकारी है सामंत या पादरी या कोई भी वो सिर्फ ये तय करेगा कि इस आदमी को सजा होनी चाहिए पर सजा फाइनल डिसीजन कौन लेगा राजा का अधिकारी नहीं लेगा वो सिर्फ प्रपोज करेगा कि इस आदमी को छह महीने की सजा करो इस आदमी को इतना दंड करो वगैरह तय कौन करेगा कि उस एरिया के नागरिकों के लिस्ट में से 10-12 नागरिक एट रैंडम चुने जाएंगे सिलेक्ट होंगे एट रैंडम और 10 में से जब मिनिमम सात लोग बोलते हैं या कभी-कभी दस लोग बोलते हैं तभी उसको सजा होगी वरना उसको सजा नहीं होगी और यहां से इंग्लिश लिबर्टी का जन्म होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत भी यहीं से होती है कैसे कि कारीगरों को एक तरह का प्रोटेक्शन मिला कि अब मैं यदि मेहनत से या तो इनोवेशन से यदि पैसा कमाऊंगा तो सामंत की हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे पैसा छीन ले यूरोप के इतिहास में जो प्रगति हुई है वो ज्यूरी सिस्टम की वजह से हुई है रिनेसा की वजह से नहीं हुई है जो इतिहासकार रिनेसा को बोलते हैं वो सबसे पहुंच तक झूठे हैं वो ज्यूरी सिस्टम को क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहते क्योंकि यदि ज्यूरी सिस्टम को क्रेडिट दी तो क्रेडिट आम आदमी के हाथ में चली जाएगी कि भाई आप बुद्धिजीवियों ने तो कुछ नहीं किया पोथे लिखते रहते थे आप बुद्धिजीवी बाकी जो ग्राउंड लेवल पे जो इंजस्टिस होता था वो इंजस्टिस कम करने का काम तो जूरी ने किया आम आदमियों ने किया आप तो गद्य पद्य और वो सब भाषण लिखते रहते थे राजाओं के दरबार में खुशामत खोरी करते रहते ग्रांट खाते रहते थे बुद्धिजीवी करते क्या है आप किसी भी बुद्धिजीवी को देख लीजिए यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं महीने की तीस चालीस हजार की तनख्वाह मिली को तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ है नहीं वो थोड़े इंजीनियरिंग और साइंस वाले पढ़ाते हैं बाकी ये आर्ट्स वाले क्या पढ़ाते हैं सब वो मुफ्त की तनख्वाह तोड़ते हैं किसी भी आर्ट्स के डिपार्टमेंट में जाइए ये पॉलिटिकल साइंस हो या लिटरेचर या फिलोसॉफी वो, वो फोकट की तनख्वाह खाते हैं सबके सब और इसी तरह से ये दूसरे बुद्धिजीवी जो है वो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं या तो गवर्नमेंट के में नौकरी लेते हैं औकात तो है नहीं इन बुद्धिजीवियों की कि किराना की दुकान भी चला सके या कहीं छोटे मोटे बिल्डर का काम कर सके या इंजीनियरिंग का काम कर सके तो ये आ, आ, सारे बुद्धिजीवी है वो ग्रांट पे चलते हैं वो राजाओं की सामंतों की खुशामदखोरी करते हैं उनसे ग्रांट मिलती है और आ, आ, उस पर उनका धंधा चलता है तो रिनेसा पे वो सारा यूरोप की जो प्रगति है उसका क्रेडिट वो रिनेसा को देते हैं रिनेसा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जीरो ज्यूरी सिस्टम ब्रिटेन में आए तो वैसे देखो ना रिनेसा तो इटली में आया था इटली क्यों औद्योगिक दृष्टि से एकदम पिछड़ा हुआ देश था इवन 1800 साल में देखिए तो ब्रिटा इटली uh, था वो एकदम पिछड़ा हुआ कंट्री था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मोस्ट एडवांस कंट्री कौन सा था ब्रिटेन तो ब्रिटेन में तो रहना सा एकदम बाद में पहुंचा और ब्रिटेन का उद्योग का ग्राफ 1200 एडी से ही ऊपर आना शुरू हो गया था तो 1200 एडी में तो रेनासा इटली में भी नहीं आया था तो इंडस्ट्री ऊपर आई है ज्यूरी सिस्टम की वजह से लिबर्टी का कंसर्ट भी पूरा जूरी सिस्टम की वजह से आया लिबर्टी अपने आप कैसे आ गई कि अब राजा की मनमानी नहीं चलती थी सामान की मनमानी नहीं चलती थी उसे 12 लोगों को सोसाइटी में से बुलाना पड़ता था और वो 12 लोग तय करेंगे कि इसको सजा होनी चाहिए तो अपने आप ग्राउंड लेवल पे एक लिबर्टी आ गई अब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जूरी सिस्टम दाखिल की 1872 में आ, क्यों दाखिल की कि विक्टोरिया ने जब शासन स्थापित किया 1860 में तो उसने एक कमीशन रखा और उस कमीशन को ये सवाल पूछा कि हम राजाओं को लूटते थे सामंतों को लूटते थे उनको तो लूटा हमने वो लोग हमें मारने हम लड़े उनके सामने पर आम आदमी हमसे क्यों लड़ने आया आम आदमी का हमने क्या बिगाड़ा था कि वो हमसे इतने बड़े पैमाने पे युद्ध करने आया तो उसमें जो कमीशन में अधिकारी थे उन्होंने बोला कि जो छोटे अधिकारी थे कलेक्टर लेवल के वो आम आदमियों को लूटते थे तो और उनपे दमन भी बहुत करते थे मारपीटाई भी बहुत करते थे और उनको ईसाई बनाने के लिए मजबूर करते थे तो वो ईसाई बनाने का काम रानी ने रुकवा दिया इसलिए नहीं क्योंकि बहुत उदार दिल की थी उन्होंने देखा कि इससे बड़े पैमाने पे विद्रोह होगा इसलिए वो काम उसने रुकवा दिया फिर उसने बोला कि भाई ये अधिकारी है वो बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी करते हैं दमन खूब करते हैं तो इसका क्या उपाय है तो जो अधिकारी थे मैकाले वगैरह उन्होंने बोला कि भाई हमें तो एक ही उपाय पता है ज्यूरी सिस्टम जो ब्रिटेन में है यूरोप के दूसरे देशों में है बाकी तो उनको उपाय जानते भी नहीं है कि जिसके द्वारा जो कलेक्टर तहसीलदार लेवल के अधिकारी हैं उनको कंट्रोल में रखा जा सके तो इसलिए 1872 में भारत में ज्यूरी सिस्टम आई जिसकी वजह से अंग्रेजों का राज सत्तर साल तक चला ज्यूरी सिस्टम का बेनिफिट क्या हुआ ज्यूरी अंग्रेजों ने जो ज्यूरी सिस्टम वाली थी वो कमजोर थी कमजोर किस सेंस में कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यदि सिटीजन की पिटाई करता है या तो उसे पैसे हटता है तो जज डिसाइड करेगा कि ज्यूरी ट्रायल हो या ना हो सिटीजन के पास ऑप्शन नहीं है और यदि लेकिन प्राइवेट ट्रायल है किसी ने मिलावट की है या किसी ने चोरी की है या दो लोगों में भी मारपिटाई हुई है तो उसमें ज्यूरी आएगी और आम नागरिक तय करेंगे तो आप देखिए कि अंग्रेजों के राज में मिलावट नहीं होती थी क्योंकि अभी मिलावट होती है आदमी जज को पैसे देकर निकल जाएगा लेकिन ज्यूरी में तो वो आदमी आएगा वो बोलेगा सर साला इसने मेरे को इतने साल तक मिलावट वाला दूध पिलाया मिलावट वाला खाने पिलाया भेज दो साले को जेल में इसलिए ज्यूरी सिस्टम होती थी इसलिए मिलावट नहीं होती थी और जो ओपन एंड कैरियर क्राइम है हफ्ता वसूली के वो भी सारे क्राइम अंग्रेजों के जमाने में नहीं होते थे क्योंकि ज्यूरी ऐसे लोगों को जेल में भेज देती थी तो इसलिए उन्होंने 1872 में वीक ज्यूरी सिस्टम इंट्रोड्यूस की प्राइवेट ट्रायल में और जो गवर्नमेंट का अफसर था वो भी थोड़ा डर के रहता था कि यदि मैं हद से ज्यादा कोई गुंडागर्दी करूंगा जो कि सैंक्शन नहीं है कलेक्टर ने मुझे बोला है कि मारपीटाई कर पर कलेक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि जहाँ जितनी होती मारपीटाई गई जितना होता उतना तो पैसा ऐड किया और यदि मैंने ऐसा काम किया तो ये लोग मुझे ज्यूरी के सामने फेंक देंगे ज्यूरी मुझे जेल में बंद कर देगी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर जो ब्रिटेन में थे उनका भी दमन और भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो गया 1870 के 1860 के मुकाबले और अंग्रेजों के शासन में एक तरह की स्टेबिलिटी आई एक तरह का जो आम आदमी के साथ उसका जो घर्षण था वो रिलेटिवली कम हो गया और ये जूरी सिस्टम भारत में 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने खत्म की जवाहरलाल नेहरू और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर खत्म की सुप्रीम कोर्ट के जज ने जूरी सिस्टम क्यों खत्म की कि उन्होंने देखा कि भाई जूरी है तो जज को पैसा नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके रिश्तेदार लोअर कोर्ट में जज का काम करते थे और यदि जूरी निकल जाती है और फैसला जज के हाथ में पावर जज के हाथ में आता है तो जज को ज्यादा पैसा मिलेगा ज्यादा पावर मिलेगा पावर का यूज मिस यूज जो भी करना कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी चाहते थे कि जूरी सिस्टम खत्म हो जवाहरलाल नेहरू ने जूरी सिस्टम क्यों खत्म की क्योंकि अंदर से जवाहरलाल नेहरू जमींदारों से मिला हुआ था ऊपर से वो दिखाता था कि वो लैंड रिफॉर्म से मानता है पर उसने जो लैंड रिफॉर्म से कानून बनाया वो इतने दोगले थे जैसे उसने वेल्टेक्स नहीं डाला लैंड पे वेल्टेक्स डाला होता तो बहुत सारे जमींदार अपने आप जमीन बेच के निकल जाते कानून बनाया होता कि भाई दस एकड़ जमीन तक कोई टैक्स नहीं और दस एकड़ से ज्यादा है बीस एकड़ तक एक परसेंट टैक्स बीस से चालीस एकड़ तक दो परसेंट टैक्स तो जो टैक्स की मार पड़ती उसको उससे बहुत सारे जमींदार जमीन बेच देते और नेहरू ने पावर ऑफ एटर्नी का सिस्टम भी खत्म नहीं किया पावर ऑफ एटर्नी यानी कि मेरे पास मान लो हजार एकड़ जमीन है और कानून आ गया कि सौ एकड़ रख सकता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं अपने आ, दस रिश्तेदारों को लूंगा हर एक के नाम पे नब्बे नब्बे एकड़ कर दूंगा और उनसे मैं non revocable power of attorney ले लूंगा कि जब चाहे तब वो नॉन रिवोकेबल पावर यानी असलियत में मालिक मैं हूं मैं हो गया और सरकार के चौपड़े पे नाम मेरे रिश्तेदार का यानी लैंड सीलिंग एक्ट में पावर ऑफ एटर्नी के द्वारा आसानी से उसको घोल के पी सकते हैं वो फीचर नेहरू ने चालू रखा लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यदि ये लैंड रिलेटेड ट्रायल यदि जूरी के सामने जाता है तो मैं एक मान लो दस हजार एकड़ का जमींदार हूं और 500 किसानों ने क्लेम किया कि भाई इसके पास दस हजार है चलो जमीन इसकी बांटनी शुरू करो और 500 जूरी ट्रायल हो गए हर एक में दस दस की जूरी आएगी और वो भी गरीब आदमियों की आएगी आम आदमियों की आएगी तो मुझे पहले तो हजार की जूरी को रिश्वत देनी पड़ेगी जबकि जज सिस्टम में मेरा काम आसान हो जाएगा वो 500 पे 500 केस है वो दो या तीन जज के पास जाएंगे तो जमींदार के लिए यदि जमींदारी प्रथा टिकानी हो तो गुंडों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और गुंडों में भी यही आएगा कि यदि मैं पचास लोगों की पिटाई करवाता हूँ और ज्यूरी में वो अलग अलग केस गए और 500 लोगों ज्यूरी में आ गए पांच हजार लोग ज्यूरी में आ गए तो मुझे हजार लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी मेरे आदमियों को बरी कराने के लिए लेकिन मैंने पचास आदमियों की पिटाई करवाई और जज सिस्टम है तो सारे के सारे पचास केस दो और तीन जज के पास जाएंगे तो मैं यदि